इसमें है आगे स्वर किसे कहते हैं आचार्य जी वो रह गया बीच में अक्षर सामान्य का अर्थ आपने बत, उसका उत्तर नहीं बताया आचार्य जी बताऊंगा बताऊंगा पहले आप चिंता नहीं कीजिए स्वर किसे कहते हैं तो जिसके उच्चारण में किसी की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती जो अपने आप में ये ठीक है ये आपका ठीक है इसमें पूरा दो का दो नंबर मिल जाएगा इसमें आपको दो नंबर मिला हाँ परंतु पहला क्वेश्चन आपका गलत था वेदों के छह अंग में से वर्णचन शिक्षा कौन सा अंग है तो पहला अंग है इसका उत्तर होगा अथ शब्द का क्या अर्थ है तो अथ शब्द का तीन अर्थ है प्रारंभ अनंतर और मंगल ये होगा इसका उत्तर अक्षर समामनाय का क्या अर्थ है अक्षर समामनाय का अर्थ है अक्षरों का समूह शब्द कहाँ रहता है शब्द आकाश में रहता है स्वर किसे कहते हैं तो इसका आपने ठीक लिखा स्वयं राजन तेतीसरा जो स्वतंत्र हो जो स्वयं प्रकाशित हो जिसको किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती उसका नाम स्वर है तो इसमें आपको दो नंबर मिला राजभल्ला जी आगे आगे है दूसरा महर्षि दयानंद को वर्णोच्चारण शिक्षा क्यों प्रकाशित करना पड़ा तो उत्तर में आपने लिखा कि लोगों को पता चले कितने स्वर व्यंजन अयोगवा है एक उत्तर आपने दिया उनका उच्चारण ठीक तरीके से कर सके दूसरा बताया कुछ लोग क को चौ से क को से बोलते हैं चौ से बोलते थे नहीं समझ में आया जैसे वो एग्जाम्पल दे रखा है ना उन्होंने की तो क को चौ थोड़े बोलते हैं कुछ लोग साउथ इंडिया में ज्ञान को ज्ञान कहकर पुकारते हैं लोग ठीक तरीके से व्याकरण पढ़े तभी वेद और अन्य ग्रंथ समझ में आएगा यह पाणिनि जी ने नहीं लिखा है बल्कि उनके मत के अनुसार किसी नहीं वो तो आपने ये कर दिया इसमें तो सबसे पहले लोगों को पता चले कितने स्वर व्यंजन हुआ है तो महाज्ञान जी जो है नहीं हुआ प्रकाशित करते तभी भी लोगों को पता चल जाता उनका उच्चारण ठीक तरीके से कर सके ये ठीक है कुछ कुछ लोग क को चौ से बोलते नहीं ये भी ये ठीक नहीं है कुछ लोग साउथ इंडियन के लोग ज्ञान को ज्ञान को ज्ञान कहते हैं तो ये तो उसी के अंतर्गत आ गया कि उनका ठीक तरीके से उच्चारण कर सके इसी में आ जाएगा ठीक उसका उदाहरण हो गया आ, लोग ठीक तरीके से व्याकरण पढ़े तभी वेद और अन्य ग्रंथ समझ में आएंगे वो तो यदि वर्णोच्चारण शिक्षा यदि प्रकाशित नहीं होता तब भी जो है व्याकरण पढ़ा जाता यदि महर्जन जी नहीं करते तब भी तो इसलिए जो है नहीं ये सब जिस तरीके से ये होना चाहिए कुछ कुछ ठीक है तो वो नहीं हुआ तो इसका जो है कितने नंबर का है ये <clears throat> कितने नंबर का है पांच नंबर का था जी दो नंबर इसमें मिलेगा तो मैं पास नहीं होगा आचार्य जी <laughs> न, कोई बात नहीं <laughs> घबराना नहीं है उसकी घबराहट नहीं होनी चाहिए आपने जी बाद में आचार्य जी ग्रेस दे देंगे आप ग्रेस हाँ जी ग्रेस नंबर दे देंगे आचार्य जी बाद में वो जो है कहा गया तो ये अटैचमेंट राजभल्ला जी कहाँ चला गया दूसरा हाँ, ये रोटेट कर रहा हूँ घबराया नहीं जाता है चलिए दूसरा है तीसरा क्वेश्चन था कि अक्षर किसे कहते हैं और क्यों इसका उपदेश किया जाता है उत्तर है अक्षर उसे कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता एकदम ठीक है जो सर्वत्र व्यापक है ठीक है जिसे पूर्व आचार्य शब्द या वर्ण नाम से भी पुकारते हैं ठीक है आ, इसका उपदेश इसलिए किया जाता है ताकि वेद का ज्ञान हो ठीक है बुद्धि अर्थम परमात्मा से लेकर प्रकृति के जितने साधन है उनका ज्ञान हो इष्ट बुद्धि अर्थम का अर्थ है ठीक है लघु सम्यक प्रयोग से और भी लाभ हो मैंने स्वल्प प्रयत्न से बहुत अधिक लाभ हो इनके इनसे व्याकरण समझ में आएगा और बाकी ग्रंथ उपनिषद का भी ज्ञान होगा ठीक है ये एक कितने नंबर का है पंद्रह नंबर का पंद्रह परंतु हमने ये भी कहा था ना कि सब प्रमाण व्याख्या करें हेलो हाँ जी हाँ तो ये इसमें आपको दस नंबर मिलेगा ओके पांच नंबर नहीं क्योंकि आपने प्रमाण नहीं लिखा तो, तो प्रमाण में क्या लिखेंगे अक्षरम नक्षरम विद्या दसनो तेरवा सरोक्षरम वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदिश्यते वर्ण ज्ञानम वाग विषय यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थम इष्ट बुद्धिर्थम लघ्वर्थम जो उपदिश्यते ये भी लिख दे तो पंद्रह का पंद्रह मिल जाता दस नंबर इसमें मिलेगा चलिए जी हाँ जी वो याद नहीं था अरे अच्छा, कोई बात नहीं तभी दस नंबर मिला ना इसमें आगे क्या है वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है तो आपने दिया नाभि से वायु ऊपर उठता हुआ मुख की ओर आता है उसे नाद कहते हैं जब इसका विभाजन मुख के तालु दंत उष्ठ आदि से होता है तो यह शब्द बन जाता है आत्मा बुद्धि के द्वारा विचारों को संग्रह करके मन को प्रेरित करता है मन जठरग्नि को प्रेरित करता है जो कि नाभि से वायु को ऊपर फेंकता है यह वायु मुख के अलग अलग भाग से टकराकर तालु दंत शब्दों आदि शब्द को अलग अलग भाग से टकराकर अच्छा शब्दों को उत्पन्न करता है ठीक है ये कितने नंबर का है पंद्रह नंबर का ये भी पंद्रह नंबर का है चलिए इसमें भी दस नंबर मिलेगा क्योंकि आपने इसमें प्रमाण नहीं दिया दस नंबर आगे क्या है अक्षर ज्ञान करने से बेनिफिट क्या है अक्षर ज्ञान वाणी का विषय है इससे वेद का ज्ञान होगा इससे अभ्युदय अर्थात संसार के जितने साधन उसका सुख मिलेगा इससे श्रेय मिलेगा और मुख्य सुख की प्राप्ति होगी निश्रेयस श्रेय को ही कहते हैं पारलौकिक सुख मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति कितने नंबर का है ये दस नंबर का आचार्य जी ये चलिए इनको पांच नंबर इसमें पांच नंबर जोड़ते जा रहे हैं ना जी राजवल्ला जी जी हाँ आगे है हाँ तीसरा अब तीसरा जो है रोटेट करना होगा हाँ शब्द का लक्षण क्या है जो कानून से सुना जाए बुद्धि जिसका ग्रहण करे जो उच्चारण से प्रकाशित होता है उसको आका जो आकाश में रहता है हाँ तो कितने नंबर का है ये पांच नंबर का चाहिए ढाई नंबर मिलेगा क्योंकि आपने वो नहीं लिखा वैसे एकदम ठीक है आपका आगे जो है यम के संबंध में क्या विचार है महाजन जी के मुताबिक यम चार हैं रस्व दीर्घ रस गुंग दीर्घुंग अनुनासिक ऋण कुछ आचार्य कुंग खुंग गुंग गुंग को यम कहते हैं अगर उनको यम माने तो चुंग छुंग झुंग क्यों तो नहीं मानते ठीक है भट्टो जी दीक्षित के मुताबिक पंचम वर्ण से पहले जो वर्ण होगा वह क्या है वह द्वितीय हो जाता है अच्छा द्वित्व हो जाता है उसको यम कहते हैं जैसे पलकनी में न से न के पड़े थे क को द्वित हो गया तो यहाँ क को यम कहेंगे पर अगर ऐसा माने तो यम बीस हो जाएंगे बहुत सुंदर यम के प्रश्न क्या था वैसे यम के संबंध में क्या विचार है यम के संबंध में महर्जन जी का अच्छा और क्या हुआ जी यम किन को किसको मानते हैं हाँ ये था चलिए ठीक है वैसे आपने ठीक है कितने नंबर का है ये दस नंबर का मुर्गाचार्य आचार्य जी दस नंबर का है दस नंबर दस नंबर है आपने ठीक लिखा वैसे एम हो जाएगा पूरा दस का दस नंबर ले लीजिए दस नंबर इसमें हो जाएगा अच्छा वर्ण दो प्रकार के हैं आगे का प्रश्न क्या है वर्ण कितने प्रकार के हैं जी दो प्रकार के हैं स्फोट और वैखरी ओ तो वो तो शब्द दो प्रकार के हुए ना वर्ण तो तीन प्रकार के हुए स्वर व्यंजन देख रहा हूँ अच्छा अच्छा इनका देख रहा हूँ वर्ण दो प्रकार के हैं क्या लिख रहे हैं स्फोट परापशंति मध्यम या नित्य है वैखरी ध्वनि यह नष्ट हो जाता है अच्छा आगे लिखते हैं वर्ण स्वर व्यंजन और योग वाह है ना स्फोट की जो बात कर रहे हैं ना आप जी स्फोट और वैखरी हाँ ये शब्द की बात है शब्द वर्ण दो प्रकार के नहीं है तीन प्रकार के हैं स्वर व्यंजन अयोगवा जो आपने कहा है समझ गए <coughs> ये कितने नंबर का है पांच नंबर का हाँ जी पांच नंबर पांच नंबर का हाँ तो पांच नंबर का है पर तो, इसमें जो है आपने ये परापश्यंत इत्यादि गलत लिख दिया है सब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी तीन प्रकार लिखना चाहिए था वैसे लिखे हैं स्वर व्यंजन अयोग बा डेढ़ नंबर मिलेगा डेढ़ यदि आप ऊपर नहीं लिखते इसका तो तीन प्रकार इसको तो पूरा का पूरा मिल जाता चलिए ये हो गया <coughs> ओम है प्रभु अब लास्ट है रोटेट हाँ जी आगे क्या है स्वरों के कितने भेद हैं काल और गुण के आधार पर तो इसका काल के आधार पर स्वरों को तीन भेद हैं रस दीर्घ प्लूत और गुण के आधार पर सात हैं गुण के आधार पर उदात उदात अनुदात अनुदात स्वरित स्वरित उदात्ता एक श्रुति दोनों ठीक है परंतु और कुछ मेरे मन में भावना थी वो जो है उदात अनुदात स्वरित उसके बाद और क्या चीज है जी उसमें उदात उदात तरह अनुदात वो तो है वो तो इन्होंने लिखा है एक तो और जो आगे है ना रस्वम लघु संयोगे गुरु तो लघु और गुरु भी तो गुण गुण है के आधार पर है ना जी जी क्योंकि लघु और गुरु ये भी तो गुण के आधार पर है ना जी इसको इन्होंने नहीं लिखा दो चीज इन्होंने छोड़ दिया और सब ठीक है कितने नंबर का है ये दस दस नंबर का है दो चीज आपने छोड़ दिया आठ नंबर इसमें ले लीजिए जी आगे इस ग्रंथ में कितने प्रकरण है आठ प्रकरण है ठीक है परंतु कौन कौन से हैं वो आपने नहीं लिखा आपने पूछा नहीं सिर्फ यही लिखा है कि कितने प्रकरण है ये नहीं पूछा कि कौन कौन से हैं बताइए कितने नंबर का है ये पांच नंबर आठ लिखने से थोड़े काम चल जाएगा पांच नंबर वो जब तो ही पांच नंबर है इसका मतलब समझना चाहिए कि वो जो है पूरा लिखना है ना ना दो नंबर का होगा उसका एक अलग होगा पांच नंबर का होगा उसका अलग होगा यहाँ पर जो है अर्थापत्ति लगानी होती है आठ प्रमाण है ना जी या प्रत्यक्ष अनुमान उपमान सब व्यती अर्थापत्ति समर अभाव हमने कहा कि जल लाइए तो अब प्यास लगी हुई है तो आप जल लाने के लिए गया चप्पाकल के ऊपर या और वहाँ है ही नहीं तो आप ये थोड़े कहेंगे कि आचार्य ये है नहीं कहाँ से लाऊ वो तो नियम ये है कि जहाँ है वहां से लाइए अर्थ से अर्थ हुआ जल कि जल लाना है उससे वहां नहीं प्राप्त तो अन्य स्थान पर प्राप्त है तो ऐसे ही पांच नंबर का है तो इसे पता चलेगा कि भाई पांच नंबर का वो आठ लिख देने से थोड़े पांच हो जाएगा आठ आपने लिखा ठीक है चलिए एक नंबर इसमें आपको दे देता हूँ आगे स्वरों के उच्चारण में क्या दोष है मुख को पकड़ करके बोलना मुख में जल भर करके भरा हो ऐसा बोलना मुख को पकड़ के मुख को पकड़ के बोल मुख को थोड़े पकड़ा जाता है मुख में कुछ रख करके बोला जाता है उस तरीके से बोलना ये सब सदृश है मुख में कुछ लेकर के बोलना जैसे बोलते उस तरीके से बोलना ये है मुख में जल भरा हो ऐसा बोलना फेंक रहे हो ऐसा बोलना स्पष्ट करके ना बोलना लोहार की धोकनी की तरह बोलना आधे समय में बोलना शीघ्र शीघ्र बोलना बिखेर कर बोलना ठीक है कितने नंबर का है ये पांच नंबर का आचार्य जी हाँ ढाई नंबर ले लीजिए तो टोटल कितने हो गए आपके तो ढाई नंबर इसमें क्यों दे रहे हैं मेरे को <laughs> क्योंकि आपने श्लोक नहीं लिखा ना श्लोक नहीं लिखा हाँ हाँ श्लोक लिखना पड़ेगा तो ना मेरे को इस एज में याद नहीं आएगा <laughs> कितने टोटल नंबर हुआ एक बताता हूँ टोटल जोड़िए कितना हुआ फिफ्टी सिक्स एंड हाफ चलिए तो पास हो गए पास से भी ज्यादा हो गए पास सेकेंड डिवीजन हुए अच्छा, तैतीस परसेंट पास हो जाता जी सिक्सटी पे पास सेकंड डिवीजन होता फर्स्ट डिवीजन होता है ना फर्स्ट हाँ इंडियन रूल इंडियन रूल तो पैंतीस नंबर का है ना पास हाँ आपको सेकंड डिवीजन हो गए अच्छा हुआ ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद अब आगे जो है अच्छा, जी हाँ जी अमेरिका में सेवेंटी परसेंट पासिंग ग्रेड है नाइन्टी परसेंट तो फर्स्ट ग्रेड होते हैं नहीं नहीं उनकी बात छोड़ दीजिए पढ़ रहे हैं हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं इंग्लिश <laughs> नहीं पढ़ रहे हैं <laughs> अच्छा जी वर्णचरण शिक्षा वेदों के छह अंगों में शिक्षा कौन सा अंग है विद्वान लोग वेद को एक पुरुष मान के वेदांग शिक्षा को उसकी नासिका मानते हैं जैसा नाक सुगंध दुर्गंध में भेद पहचानने में सहायक होता है वैसे उच्चारण के शुद्ध शिक्षा बतलाता है नहीं मैं ये नहीं ये गलत है ये गलत हो गया वेदों के मैंने पूछा कि वेदों के जो छह अंग है उसमें से शिक्षा कौन सा अंग है पहला अंग वो पहला अंग है ये नहीं वो जो है वो दूसरा चीज है कि शिक्षा किसके सदृश है किसके सदृश माना जाए वेद यदि यदि एक वेद को पुरुष माने तो तो नासिका के नासिका मानते हैं वो अलग है शिक्षा कौन सा आप अंग का मतलब ये नासिका अंग मतलब इस रूप में न कि विद्वान लोग वेद को एक पुरुष मान के वेदांग शिक्षा को उसकी नासिका मानते हैं तो इस रूप में आप अंग ले रहे हैं हाँ अच्छा आचार्य जी प्रतीक बोल रहा हूँ आचार्य जी मुझे कहीं बाहर जाना है अभी तो मैं बाद में आपको कॉल करके मेरा आंसर देख लू अच्छा ठीक है बाद में कर लीजिएगा या हाँ। ऐसा है ना मैं देख लूंगा इसमें तो वो जो है कि फिर आप सुन लीजिएगा हाँ।, हाँ ठीक है हाँ तो वेदों के छह अंगों में शिक्षा कौन सा अंग है किसका पढ़ रहे हैं जी आप नवी ये अनंत जी का वासुदेवन जी का अजय अच्छा, वासुदेवन जी का है क्या जी हाँ जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नहीं तो ये ये एक गलत इसका उत्तर है मैं समझा कि ये तो टाइप तो आप टाइप तो बोलने की मैं भी किया हूँ हेलो हाँ जी टाइप किसने किया है आ, हाँ, हम हम किए हैं अच्छा आपने किया हमने किया है अच्छा आपने किया मैं समझा कि अनंत जी ने किया है तो ये जो है अनंत जी का तो मैंने भी टाइप ही किया है आचार्य जी लेकिन दूसरे मेरे में नाम नहीं लिखा है मैं अपना नाम लिखना भूल गया पेपर में अच्छा इसमें वासुदेवन जी है इसमें वासुदेव ठीक है देख लिया धन्यवाद ये नहीं होगा इसका पहले का उत्तर अथ शब्द का क्या अर्थ है पहले जमाने में ब्रह्मा से जैमनी मुनि तक के ऋषि और उनका अनुकरण करने वाले मंगलाचरण दो तो शब्दों से किया करते थे क्योंकि ये ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए शब्द है अथ और ओम ओंकार शब्द सद्भाव तो ब्रह्म पूरा कंठम मित्र इंद्रिया तो स्वांगन का वो उदाहरण अथ शब्दानुशासन अथ योगानुशासन ब्रह्म जितने भी हम्म, वेदों के अनुकूल ग्रंथ है वे अथ से शुरू होते हैं इनके अलावा जितने भी ग्रंथ हैं जो श्री आय नम शिवाय नम इत्यादि से शुरू होते हैं सब अर्वाचीन है अर्थात प्राचीन नहीं आपने लिखा तो अच्छा है परंतु ये दो ही नंबर का है इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी तो अर्थ शब्द का क्या अर्थ है नंबर के बारे में पता नहीं था हमको पहले हमको दो शब्द का क्या अर्थ है उसमें से एक अर्थ आपने मंगल अर्थ केवल लिखा है अनंतर और वो अर्थ नहीं लिखा है प्रारंभ तो मैंने इनको नंबर क्वेश्चन के नंबर नहीं लिख के भेजे मैंने टाइप करके क्वेश्चन भेजे थे इनको तो नंबर तो ब्रह्मा जी ने मुख से निकले हुए शब्द अनुकरण करने वाले क्या करते क्योंकि ब्रह्मा जी ने बोले देते तो, हैं तो, शुरू प्रारंभ अर्थ लिखा है मंगलाचरण आपने नहीं लिखा कि मंगल भी लिखा है अच्छा अच्छा मंगलाचरण भी इसमें आ गया मंगलाचरण भी आ गया प्रारंभ भी आ गया दो हो गए अनंतर नहीं आया है चलिए ठीक है कितने नंबर का है दो नंबर का है ना जी जी दो नंबर का है और हाँ, डेढ़ नंबर ले लीजिए एक अच्छा। अनंतर कर देते तो ठीक था और ये बहुत अच्छा आपने ओम नमः शिवाय श्री गणेश नम ये सब कैसे आपने सोचा बहुत सुंदर है वो हमको तो क्लास नोट्स मिला था ना हाँ जी अनंत जी क्लास नोट भेज रहे थे ना हमको अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा ये अच्छा है ओम नमः शिवाय श्री गणेश आय नम ये सब अर्वाचीन है ठीक है अर्वाचीन है ये प्राचीन है ही नहीं ये सब पाखंड है आगे अक्षर समामनाय का क्या अर्थ है समामनाय सम अच्छी प्रकार से आमनाय उपदेश के में दिए हुए अच्छी प्रकार से उपदेश में दिए हुए अविनाशी शब्द समूह को अक्षर समाम कहते हैं आद्योचारण उपदेश जैमनी मनुदेशियों के कथनों में आ, आधारित गुरु परंपरा जो अक्षरों का समूह माना गया वो अक्षर समामना है ठीक है बहुत सुंदर परंतु जो है ना कि आधारित मान इसमें थोड़ी गलती है क्या कहते हैं वो टाइप टाइप मिस्टेक हाँ टाइप गलती है तो उसका नहीं काटू बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए आचार्य जी आई थिंक मिस्टर को छोड़ दीजिए आचार्य जी <laughs> क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा तो आपको लिखने आता है आदृत भी ठीक है ना <laughs> चलिए जी दो नंबर ले लीजिए कर, आधार करके रेस्पेक्ट <laughs> करके हाँ सर दो नंबर ले लीजिए शब्द कहाँ रहता है तमक्षरम ब्रह्म परम पवित्र गुहाशम विप्राह में रहते हैं नहीं इसका ये उत्तर नहीं है ये इसका ये उत्तर नहीं है इसमें मनुष्य के नाभि स्थान में उत्पन्न होने वाले शब्द आकाश और वायु के संयोग जब ये मुख में प्रकट होते हैं निवास स्थान नाभि शब्दों जन्ने ये इसका उत्तर नहीं है बस इसका उत्तर है कि आकाश में रहता है इसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा आगे है स्वर किसे कहते हैं स्वयं राजंत स्वरा जो अक्षर समूह किसी और की सहायता के बिना प्रकट होते हैं उसको स्वर कहते हैं वावल्स प्रत्याहार अक्षरा में ठीक है ये दो नंबर मिल जाएगा लिखते जा रहे हैं ना जी नंबर लिखते जाइएगा इसमें दो नंबर मिलेगा आगे है जाल शिक्षा को क्यों प्रकाशित करना पड़ा धनंद जी के तत्कालीय छपे ग्रंथों में आर्स प्रमाणिक जाल शिक्षा नहीं मिले देवनागरी वर्णों के जाल में बहुत ही गड़बड़ हुई जाने के लिए स्वामी जी ने ग्रंथ की खोज में पड़े जो ग्रंथ मिले हुए पानी शिक्षा के नाम से छपे हुए थे पाणिनि क्यों दान शिक्षा पाठ न की पाणिनि विचलित कितने नंबर का है दस नंबर का आचार्य जी जिस तरीके से लिखना चाहिए उस तरीके से नहीं लिखा गया है तो प्रकाशित करना पड़ा वो तो वो तो पाणिनीय शिक्षा ही पढ़े थे भरजान जी ये वाले नहीं वो अथा शिक्षा प्रवक्षा वाला वो तो पूरे पढ़े थे तो प्लीज इसमें कुछ कुछ आपने बताया वो ये जो है चार नंबर इसमें ले लीजिए पूरा जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं मिला इसमें उत्तर तो इसका सही उत्तर क्या है बताऊंगा वो इसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि अच्छे लिखे हैं वो जब नहीं होगा तो फिर आपको बताएंगे मैंने प्रतीक जी ने अच्छा उत्तर लिखा है इसके ऊपर क्या हुआ ये हो गया अच्छा ये है अच्छा आपका दो दो है ना जी दो ही है ना वासुदेवन जी दो ही पर दो ही आपने की है ना सातवा अक्षर किसे कहते हैं क्यों इसका उपदेश किया जाता है सप्रमाण व्याख्या करें हाँ। नक्षरम इति अक्षरम नहीं नष्ट होने लोग अक्षर जाने संस्कृत भाषा में शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता तो पद और वाक्यों के अर्थ अनर्थक हो जाएंगे शुद्ध उच्चारण की शिक्षा यानी उपदेश वेद पाठन और पठन में बहुत ही आवश्यक है ना वो ये सब सब ठीक है परंतु वर्णोच्चारण शिक्षा जिस तरीके से पढ़ाया उसमें जो तीन ही इसका है इष्ट बुद्धियर्थम मैंने तदर्थम इष्ट बुद्धियर्थम लघ्वर्थम ये तीन है ये कितने नंबर का है सातवा क्वेश्चन तो हमको तो मालूम नहीं था आनंद जी बताएंगे अक्षर किसे कहते हैं इसका उपदेश क्यों किया जाता है सपरमान व्याख्या करें इस कितने नंबर का है पंद्रह नंबर आई थिंक पंद्रह नंबर का है मैं देखता हूँ पंद्रह नंबर का है हाँ तो पंद्रह नंबर का है वो हम्म, बस क्या अक्षरमिति ये ठीक है नई नष्ट वाले को अक्षर जाने ये ठीक है संस्कृत भाषा और शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता है ये ठीक है परंतु ये इसका उत्तर नहीं है अशुद्ध उच्चारण से पद और वाक्यों के अर्थ अनर्थक हो जाएंगे ये भी ठीक है ऐसी बात नहीं है शुद्ध उच्चारण की शिक्षा यानी उपदेश वेद पाठन और पठन में बहुत ही आवश्यक है तो ये ठीक है इस तरीके से चलिए पांच नंबर ले लीजिए पांच नंबर आगे वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है आकाश वायु के संयोग से नाभि प्रदेश से उत्पन्न चलन शक्ति युक्त वायु अच्छे प्रकार चलता हुआ मुख पर पहुंचता है और इसे नाद कहते हैं यह नाद जब भिन्न भिन्न प्रधान कंठ परिचय में बढ़ता हुआ वर्णत को प्राप्त करता है इसे शब्द कहते हैं ठीक है कितने नंबर का है जी पंद्रह नंबर का आचार्य जी परंतु प्रमाण इन्होंने नहीं लिखा दस नंबर लीजिए अक्षर ज्ञान से क्या लाभ है शब्द राशि ब्रह्म है मनुष्य अक्षर ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इससे लौकिक सुख और पालव सुख प्राप्ति होती है ठीक है ये कितने नंबर का है दस नंबर का आचार्य जी और इसमें प्रमाण इन्होंने लिखा वैसे ठीक लिखा है उत्तर तो पांच न, दस नंबर का पांच नंबर ले लीजिए शब्द का लक्षण क्या है स्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोजनता का जैसा शब्द इसका व्याख्या आपने नहीं लिखा ये कितने नंबर का है पाँच नंबर का आचार्य जी तो ढाई नंबर ले लीजिए इसमें मेरी भी गलती है आचार्य जी मैंने उनको नंबर <laughs> कि, कितने कितने नंबर का क्वेश्चन है वो बताया तो उनको कितना एलाबोरेट लिखना है इस बारे में कुछ हाँ इसीलिए ठीक है अगली बार ध्यान रखूंगा हाँ आगे ध्यान रखिएगा यम के संबंध में क्या क्या विचार है यम चार है इसमें मतभेद नहीं है जिन अक्षरों को यम मानना है इसमें मतभेद है परंतु क्या क्या होने पूरा बताया चलिए दो नंबर कितने नंबर का है दस नंबर का आचार्य जी दो नंबर ले लीजिए क्योंकि दो नंबर के लिए ही लिखे हैं वर्ण कितने प्रकार के हैं और ये कौन कौन से हैं वर्णास त्रिष्ठी ये तिरसठ है ये स्वर व्यंजन अयोग ऐसे तीन प्रकार के हैं ये कितने नंबर के हैं पांच नंबर आचार्य जी पांच पांच नंबर ले लीजिए सरों कितने मिले हैं सत्रह स्वरों के साथ वेद हैं उदात उदातर उदातर उदातर स्वरित स्वरितो स्वरितोदात्तर नहीं स्वरित स्वरिते य उदात्त क्या है जी स्वरिते या उदात्त ऐसा होगा और एक श्रुति स्वरितोत्तातर नहीं है तो और वो नहीं ह्रस्व और लघु नहीं लिखे कितने नंबर का है ये दस नंबर आचार्य जी दस नंबर है आठ नंबर ले लीजिए ग्रंथ में कितने प्रकरण इस ग्रंथ में आठ प्रकरण स्थान करना अभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न स्थान में वायु का तारण वृत्ति वृत्तिकार प्रकरण ना भी अधोभाग से वायु का उत्थान वेरी नाइस एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ ठीक है बहुत सुंदर परंतु प्रमाण नहीं लिखे कितने नंबर है क्या का है ये पांच नंबर आचार्य जी अच्छा पर तो इन्होंने पूरा अच्छा लिखा है चलिए इसका चार नंबर ले लीजिए आगे है स्वरों के उच्चारण में क्या क्या दोष है ग्रस्तम निरस्तम अविलंबित निरहतम अम्बुकृतम धातम विकम्पितम संदम एणिकृतम अर्धकम दुर्तम विकीर्णम इथि और इसकी व्याख्या नहीं लिखे कितने नंबर का है पांच नंबर आचार्य जी ढाई नंबर कितने हो गए जी आपके um... पहले तीन बार तीन चारों में नहीं लिखे थे उसके बाद ए से लिखने शुरू किए हाँ। Nine fourteen sixteen point five sixteen point five seven eighteen point five twenty three thirty one 35, 37.5 अच्छा फेल हो गया और उससे इतना ही मिला आपको नंबर नहीं आचार्य जी बिगनिंग में उन्होंने कह रहे तो नहीं उन्होंने नंबर नहीं लिखे थे हम ओहो अब आप तो फिर देखना पड़ेगा चलिए अब आगे चलते हैं आनंद जी का आनंद जी का अटैचमेंट वाला है शायद तो राजभल्ला जी का ये तो हो गया राजभल्ला बाद मरुमा कुलदीप गहलावत कुलदीप जी का देखता हूँ इसमें मैं नाम भी लिख दिया था आपका आचार्य जी मैं नाम लिख दिया हुआ था इसमें से ये कह रहा हूँ बड़ा कैसे किया जाएगा आ, हाँ, ये बड़ा ये ऐसा टॉप हाँ, हाँ, पे होता है आचार्य जी वो नंबर लिखा होता है कर रहा हूँ हाँ हाँ यह है वरुण दान शिक्षा जी प्रश्न वेदों के छह अंगों में वृंदावन कौन सा ग्रंथ है वरुण शिक्षा जो की पहला अंग है बहुत अच्छा आपने लिखा है ये दो नंबर ले लीजिए इसमें ठीक है आचार्य हाँ दूसरा अथ शब्द का क्या अर्थ है अथ शब्द का मंगलाचरण शब्द को मंगलाचरण कहते हैं यह प्राचीन शास्त्रों के शुरू में प्रयोग किया जाता है हर अध्याय के शुरू में होता है अथ शब्द का अर्थ यह है अब यह शुभारंभ आशीर्वाद मंगल कामना के भाव का प्रयोग करता है कहीं पर ओम का प्रयोग होता है अच्छा वैसे चलिए वो भाव मतलब इसे हमें खुशी ये होती है कि आप लोग समझ रहे हैं बस इसका तो यही तीन अर्थ है अनंतर मंग, मन मंगल और प्रारंभ तो ठीक है आपने ठीक लिखा है डेढ़ नंबर लिखिए डेढ़ नंबर इसमें लीजिए समझे जी अच्छा क्योंकि आप अनंतर नहीं लिखा और उसकी तो व्याख्या कर दी अक्षर समामनाय का क्या अर्थ है अक्षर ब्रह्म की तरह है नित्य कभी खत्म नहीं होता हर जगह पर है हमेशा है ब्रह्म के गुण है नहीं ये इसका अर्थ नहीं इसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा आगे शब्द कहाँ रहता है शब्द ब्रह्म में रहता है ब्रह्म में रहता है आकाश में रहता है स्फोट भाषा नित्य है ध्वनि भाग अनित्य है खत्म हो जाता है ध्वनि खत्म हो जाता अच्छा आकाश में रहता है बस इतना ही इसका उत्तर था ब्रह्म में रहता है सब में तो है ही ठीक है आकाश में रहता है ये पौने दो नंबर इसमें ले लीजिए और इसलिए काट लिया कि और जो स्फोट इत्यादि की लिखने की कोई बात थी ही नहीं ब्रह्म में रहता है ठीक है आकाश में रहता है इसका उत्तर है पौने दो नंबर ले लीजिए लिख रहे हैं कि नहीं आगे स्वर किसे कहते हैं स्वर हुआ है जिससे किसी आधार की आवश्यकता नहीं किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं ठीक है दो नंबर ले लीजिए जी दो नंबर इसमें हो गया ठीक है अब स्क्रीन का दूसरा वर्णोच्चारण से हाँ मर्जन को वर्णोच्चारण क्यों प्रकाशित करना पड़ा जबकि पाणिनीय शिक्षा पहले से चली आ रही थी प्राचीन काल में केवल पाणिनीय शिक्षा से संस्कृत सिखाई जाती थी पर समय के साथ कई और प्रणालियां कौमदी इत्यादि शुरू हो गई इससे शिक्षा के त्रुटियां आ गई समय के साथ गलत उच्चारण शुरू हो गया उदाहरण ज्यों को भिन्न प्रांतों में भिन्न से किया जाता रहा जबकि सही अच्छा है उच्चारण ज या अ जबकि गलत उच्चारण जो प्रचलित है ज्ञ है बहुत सुंदर उदाहरण ऐसे ही क्ष को भी भिन्न प्रकार से उच्चारण किया जाता है कमाल का अनुचित उच्चारण है श अ छ सारे आर्यावर्तों में सारे विश्व में उचित उच्चारण लाने के लिए मजान जी ने परिश्रम किया अच्छा इसमें प्राचीन काल में केवल पाणनीय शिक्षा से संस्कृत सिखाई जाती थी नहीं ये ठीक नहीं जी पाणनीय शिक्षा से संस्कृत संस्कृत तो पाणनीय शिक्षा से ही केवल थोड़े वो तो वर्णोच्चारण सिखाई जाती थी वर्णों का उच्चारण हम्म, हम्म। समझ गए जी हाँ तो उसमें संस्कृत को हटा करके वर्णोच्चारण सिखाए जाते थे ये जोड़ दीजिएगा और आगे सब ठीक है आचार्य जी मैं बीच में कट गया कितने नंबर का है ये आचार्य जी दस नंबर का दस नंबर की दस नंबर का कि पंद्रह नंबर का दस नंबर का आचार्य जी दस का आचार्य अच्छा दस का है नौ नंबर ले लीजिए वाह आचार्य जी हाँ। मैं आपने ठीक जो है मैं आचार्य जी तो पहले का पहला क्वेश्चन जो था उसका लास्ट जो पार्ट था उसमें मेरे को कितने मिले हाँ जो स्वर वाला क्वेश्चन था आचार्य जी लास्ट क्वेश्चन पहले पहले क्वेश्चन में लास्ट पार्ट जो था स्वर किसे कहते हैं हाँ, उसमें दो नंबर पता ही लगे मेरे दो नंबर मिला दोनों नंबर मिला आचार्य जी ओके जी बड़ा थोड़ा कर रहा हूँ वर्ण अक्षर किसे का आगे है अक्षर कोई कट भी गया क्या अक्षर किसे कहते हैं सप्रमाण चला गया था हाँ जी पता नहीं आचार्य जी प्रतीक तो चला गया था कह के अक्षर किसे प्रतीक चला गया मैं हूँ आचार्य जी म्यूट में रखा है फोन मैंने अच्छा अच्छा नहीं कोई कट भी गया था अभी शायद अक्षर किसे कहते हैं सप्रमाण व्याख्या करें क्यों इसका उपदेश किया जाता है अक्षर शब्द वर्ण सब पर्यायवाची वर्ण का पर्यायवाची है अक्षर हुआ है जो कभी नष्ट नहीं होता यह नित्य है इसके वही गुण है जो ब्रह्म के गुण है ठीक है अक्षर का उपदेश करने से हालांकि हर एक गुण नहीं है ब्रह्म की तरह केवल ब्रह्म का जो नष्ट न होना गुण है वह गुण है अक्षर अच्छा हाँ अक्षर का उपदेश करने से तीन अक्षर का उपदेश करने से तीन प्रकार का लाभ होता है लाभ बुद्धि विकसित होती है वेद जो परमात्मा का दिया ज्ञान है उसको समझने का सामर्थ्य आता है पृथ्वी से परमात्मा का सब ज्ञान प्राप्त होता है अक्षर के उपदेश उपदेश देने वाले और सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है परंतु सटीक जो उत्तर देना चाहिए ना वो नहीं आपने दिया अक्षर है और अक्षरम नक्षरम विद्या ये सब प्रमाण का मतलब है कि प्रमाण भी लिखना होता है जी आ, इनको क्यों उपदेश दिया जाता है तो है वर्ण जानम वाग विषय यत्र ब्रह्म वर्तते ये है कितने नंबर का है ये पंद्रह नंबर का आचार्य जी ये आपको पांच नंबर ही मिलेगा इसमें अच्छा जी हम्म। आगे कितना तो नंबर क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है ना जी वर्ण चरण वर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है वर्णन करें वर्ण की उत्पत्ति मानव की इच्छा शक्ति से होती है ना गलत इच्छा शक्ति से होती है मानव की तो इच्छा शक्ति तो होगी ही होगी उसमें तो कोई बात ही नहीं है आत्मा बुद्धि से संपर्क करती है बुद्धि मन से संपर्क करती है मन विद्युत शक्ति से जठाराग्नि से नाभि के नीचे वायु को आघात करती है नाभि के नीचे इस आघात से एक कंपन पैदा होती है यह कंपन नाभि से ऊपर उठती है और कंठ तथा मुख की तरफ जाती है कंठ के पहुंचने से पहले इस कंपन को नाद कहते हैं बारह वाह यह कंपन कंठ और मुख के भिन्न भागों से टकराती तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे वर्ण कहते हैं नाद से स्फोट की उत्पत्ति होती है जो कि नित्य है ध्वनि अनित्य है नाद से तो ध्वनि की उत्पत्ति होगी जी अच्छा आचार्य जी हाँ हाँ ये गलत है नाद से ध्वनि की उत्पत्ति होती है अच्छा जी हाँ उससे नाद जिससे उत्पन्न होता है वो स्फोट है अच्छा अच्छा जी हाँ स्फुटति अर्थो समाधि स्फोट जिससे अर्थ स्फुटित होता है हम्म, उसका नाम अच्छा जी तो आपने वैसे ठीक लिखा है आ... नंबर का है ये पंद्रह नंबर का आचार्य जी तो आपने सप्रमाण नहीं दिया है हम्म। वैसे ठीक है दस नंबर ले लीजिए ठीक है आचार्य जी हम्म। आगे आगे का क्वेश्चन जो है और थोड़ा बड़ा कर दे हाँ वर्ण जैसे चाहे अक्षर ज्ञान करने से क्या लाभ है सब प्रमाण व्याख्या करें अब यह तीन प्रकार के लाभ होते हैं बुद्धि विकसित होती है बुद्धियों का विवेक शक्ति ज्ञान होता है अक्षर ज्ञान से शास्त्रों का अध्ययन करने का क्षमता आती है शास्त्र के माध्यम से सब ज्ञान आ जाता है लौकिक और ज्ञान धर्म और अधर्म का ज्ञान होता है ज्ञान से मनुष्य बढ़ता है कष्ट दूर होते हैं सुखाता है मोक्ष की तरफ बढ़ता है मोक्ष की प्राप्ति होती है तो ठीक है परंतु शास्त्रीय जो शास्त्र को पढ़े उसके आधार पर आपने उत्तर नहीं दिया लिखे तो अच्छा। सब ठीक है हम्म। लिखने में गलत नहीं है परंतु प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान करने से क्या लाभ होता है जी तो बस वो तमक्षरम ब्रह्म पवित्रम परम पवित्रम करना चाहिए था कितने नंबर का है ये दस नंबर का आचार्य जी ढाई नंबर ढाई नंबर अच्छा, अच्छा। हाँ क्योंकि जो होना चाहिए वैसे जितने भी उत्तर लिखे हैं सब उत्तर उसका हो जाएगा वो एक अलग चीज है हम्म। परंतु यह है कि यहाँ पर जो जिस शास्त्र को पढ़ा जा रहा है जो हमने आपको पढ़ाया उससे हमें उत्तर चाहिए वैसा उत्तर चाहिए शब्द का कारक शब्द के तीन प्रकार के गुण है शब्द स्वयं पर आधारित है या दूसरे पर आश्रित है क्या नहीं समझ में आया पहले प्रकार के शब्द को स्वर और दूसरे को व्यंजन कहते हैं शब्द नहीं ये इसका लक्षण नहीं है ये गलत है हम्म। इसमें नंबर नहीं मिलेगा अच्छा जी आ, हाँ, और उच्चारण काल शब्द के कितने भेद हैं क्या मैंने शब्द क्या क्या आगे का क्वेश्चन क्या था शब्द का लक्षण क्या है वो तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा गलत आपने लिखा है अच्छा आ, और आगे उसके आगे यम के संबंध में क्या विचार है दयानंद जी यम किनको मानते हैं अच्छा उच्चा इन्होंने क्या लिखा उच्चारण काल शब्द के उच्चारण में कितना समय लगता है जितना ये सब इसका उत्तर नहीं है आवाज और मन को ये सब उत्तर नहीं है इसका उसमें हम्म। नहीं मिलेगा नंबर छठा में आगे है यू यम के संबंध में क्या विचार मंजन को मानते हैं वर्णों को स्वर व्यंजन अयोग आदि भागों में बांटा गया है इनमें से कुछ वर्णों को यम के नाम से पुकारा गया है ये कुल चार है भिन्न भिन्न विशेषज्ञों ने यम को भिन्न भिन्न परिभाषा दी है बहुत सुंदर जैसे कुछ विद्वान विसर्जनीय जेहवा मूलीय उपद्वानी और अनुस्वार को नहीं नहीं कुछ गलत हो गया अच्छा मानते हैं कुछ वर्णों के का चढ़ता पर कुछ वर्णों को मानते हैं हमारे ज्ञानी हमको बिना किसी वर का मानते हैं उसके अनुसार सरस्वती ये है ठीक है इसमें और सब ठीक है इसमें कुछ विद्वान जो है जीवा मूल्य इत्यादि को मानते हैं कोई नहीं मानते इसको यम अच्छा कोई नहीं मानता आचार्य जी नहीं कोई भी विद्वान नहीं मानते इसको यम अच्छा जी अभिसन्य जीवामूल्य पद्मानुस्वार इसको कोई भी यम नहीं मिल मानता अगले वाले को यम मानते हैं ठीक है जी हाँ कुंग खुंग गुंग घुंग अचुंग जो मैं कख ग इसको मानते हैं जी तो उसमें से एक लिखा कितने नंबर का है ये दस नंबर का आचार्य जी दस नंबर का है चलिए दस नंबर का है आप सात नंबर ले लीजिए ठीक है चलिए वर्ण कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं व्याख्या कुल तिरसठ वर्ण है इनमें से बाईस स्वर तैतीस व्यंजन और आठ अयोगा ठीक है न आठवें में चार को यम कहते हैं जैसे ठीक है और कौन कौन से हैं बाईस स्वर हैं वो कौन कौन से आपने लिखा परंतु ठीक है ये कितने नंबर का है पांच नंबर का पांच चार नंबर ले लीजिए ठीक है आचार्य वैसे इसमें थोड़ा जो है ना कौन कौन से हैं आपने बाईस स्वर दे दिया परंतु वो थोड़ा चार्ट बना देते ना हम्म, हम्म। तो और अच्छा होता इसलिए एक नंबर काट लिया हूँ स्वरों हम्म, के किसको हमें पता कैसे चलेगा कि जो है कि बाईस स्वर है तो वह कौन कौन से आपको पता हो गया हमें पता चलना चाहिए ना जी जी ओके हाँ स्वरों को कितने भेद है आगे ध्यान रखेंगे आगे जो टेस्ट लेंगे तो उस सब में स्वरों के कितने भेद हैं काल गुण प्रमाण काल स्वरों के भेद दो हैं काल के आधार पर उच्चारण काल के आधार पर रस दीर्घ और वर्ण तो दो काल के आधार पर तीन भेद हो गए रस नारी के उच्चारित होता है ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी मानते ये भी लिखने गुण के आधार पर स्वर उदात हो सकते हैं ऊंची ध्वनि आवाज लोच और मन को अनुदात नीची ध्वनि स्वरित एक स्वरित स्वरित में स्वरती लिख दिया संयोग हाँ। एक श्रुति एक जैसा उच्चारण एक जैसा उच्चारण दूसरे वाले पन्ने में भी है क्या कितना ही है इसमें बस यही है ये इस प्रश्न का उत्तर तो इतना ही है कितने नंबर का है दस नंबर का आचार्य जी दस नंबर का स्वर के कितने भेद हैं ये ये लिखे है ना या स्वरों स्वरों के कितने भेद हैं काल तो काल के आधार पर एक गुण के आधार पर आप ये कहना चाह रहे हैं जी आठ नंबर ले लीजिए ओके आचार्य जी वर्ण इस ग्रंथ में कितने प्रकार ग्रंथ में आठ प्रकार जैसे स्थान मुगण नाद का उपमा इत्यादि आठ प्रकरण में कौन कौन से होते नहीं बताए यही देना तो आचार्य जी आठ प्रकरण यही देना ना स्थान हो गया एक तो फिर प्रकरण हो गया हाँ, विद्युत फिर विद्युत का नाभि और वायु पर आघात नाद स्थान हो गया करण कहाँ लिखे नहीं लिखे आचार्य जी मैं तो सिर्फ उदाहरण दिया बेसिकली नहीं नहीं नहीं एक कितने नंबर का है ये पांच नंबर का आचार्य जी इसमें बस एक नंबर मिलेगा एक नंबर आचार्य जी ओके स्वरों के उच्चारण में क्या क्या दोष है स्वरों के उच्चारण में ग्यारह दोष हो सकते हैं कागत होना बहुत जल्दी बोलना या बहुत धीरे बोलना वर्णों का अलग अलग न होना पद भेद न करना मुंह में पानी लेकर जैसे बोलते हैं जैसे बोलते हैं जैसे कम बनो वैसे कुछ कुछ खड़ा कर बोलना कुछ अक्कर बोलना दांतों में हिरन की तरफ और जैसा लोहे का धोकनी काम करना ठीक है रुक रुक बोलना कितने का है ये आचार्य जी पाँच पाँच पांच है इसमें चलिए ढाई नंबर ले लीजिए ढाई नंबर तो क्योंकि आपने ये नहीं लिखा ना प्रमाण जी टोटल कितने हो गए आपके आठ दोनों सोलह पाँच इक्कीस इक्कीस दस इकतीस इकतीस दो तो तैतीस तैतीस और सात चालीस चालीस चौवालीस चौवालीस और बावन बावन एक तिरपन तिरपन जो दो पचपन पचपन और एक छप्पन छप्पन पॉइंट फाइव छप्पन पॉइंट छप्पन पॉइंट टू फाइव आचार्य जी ठीक ठीक है बहुत सुंदर ठीक है अब आगे है इनका अनंत जी का जी वेदों के छंग में शिक्षा कौन सा अंग है पहला अंग है एकदम ठीक है दो नंबर अर्थ शब्द का क्या अर्थ है मंगलाचरण ब्रह्मा जी से जैम निमित गुणाचरण दो शब्द उमा तो सबसे केवल एक ही तीन अर्थ है इसके जी हाँ तो एक नंबर लीजिए आपसे समामनाय का क्या अर्थ है सब प्रकार सामने है ना कथने धातु से आंग स्वरूप जुड़कर कर बना है कथनों जैसा समस्त वेदों का ज्ञान नहीं यहाँ पर ये अर्थ नहीं है आपने अर्थ ठीक किया पर ना कथने ना अभ्यास है ना अभ्यास भी है जी ऐसा समूह जिसको अच्छी प्रकार से कहा जाए तो यहाँ पर समूह अर्थ में है वैसे जी आ, समूह अर्थ में इसमें ये में ना अच्छी प्रकार से कथन समूह ऐसा इसको लिखना चाहिए था यदि इसके आधार पर ही किया तो कि अच्छी प्रकार से मैंने ऐसा मैंने गुरु परंपरा से प्राप्त अच्छी प्रकार से कहे जाने वाले अक्षरों का समूह समूह अर्थ यहाँ पर अर्थ है नहीं इसमें नहीं मिलेगा नंबर शब्द कहाँ रहता है आकाश जैसे आकाश जिसका निवास स्थान ठीक है इसमें दो नंबर स्वर किसे कहते हैं स्वयं राजन ईश्वर जो स्वयं प्रकाश ये दो नंबर ले लीजिए ले लिए ना आगे है वर्णोच्चारण शिक्षा ये तो क ख ग था ना जी इसमें हाँ चलो मैं काखा दादा लिख नहीं पाया मतलब तो अच्छा मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर किया तो काखा काखा लिख नहीं पाया तो मैंने एक दो तीन चार कर दिया तो वर्ण दास को क्यों प्रकाशित करना पड़ा मध्यान जी के काल में भाषा अनेक प्रकार के दोष आ गए थे जो लोग ज्ञान की तरह उच्चारण करने लगे सरस्वर के उच्चारण में कई दोष आ गए थे आज भी दक्षिण भारत में कई लिखते है पर उच्चारण करते ध करते हैं जैसे विश्वनाथ प्रथमा इत्यादि भाषा के शुद्धियां मिटाकर यथार्थचार तो की परंपरा प्रमुख कितने नंबर का है दस नंबर का चलिए ये पूरा उदाहरण नहीं दिया बोलना तो ठीक है आठ नंबर ले लीजिए अक्षर किसे कहते हैं क्यों इसको उपदेश किया जाता है सब प्रमाण व्याख्या करना अक्षर मुख्य दस मंत्री वास्तव नौ नौ अक्षर जो सर्व्याप्त करना है कहते हैं वर्धन जानो आवश्य उनका उपदेश इसकी व्याख्या नहीं लिखे आ, जी नहीं लिखा कितने नंबर का है पंद्रह दस नंबर ले लीजिए क्योंकि आप लिखा उसमें हम्म, चलिए वर्णों की उत्पत्ति कैसी होती है आकाश वायु प्रवर्तन शब्द आकाश वायु के संयोग से नए उपदेश समुचरण प्रवृत्ता चलता हुआ मुख को प्राप्त होता है इसे नाद कहते हैं यह नाद कितने नंबर का है पंद्रह नंबर का आचार्य जी पंद्रह नंबर ले लीजिए आगे है वर्ण ज्ञान से लाभ क्या है तो प्रमाण व्याख्या करें पतंजलि ने महाभाष में के वृक्ष की तरह वर्णन किया है शब्द रूपी फल से युक्त चांद और तारों से शोभित है अक्षरों का समूह अक्षर रूपी ब्रह्म राशि जानने समस्त वेदों के ज्ञान जितने भी प्रकार के ज्ञान है उनकी पुण्य की प्राप्ति होती है उसी पुण्य की प्राप्ति अक्षर ज्ञान से भी होती है उसी के भी लाभ है जिसका श्लोक याद नहीं था हाँ, तम अक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम भी कर देते जी। वो भी हो जाता ये भी हो जाता चलिए कितने नंबर का है हम्म, दस नंबर पांच नंबर ले लीजिए आगे है शब्द का लक्षण क्या है तम अक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम न वहां भाषा समूह संधि विपरा शास्त्र लोपन अविनाशी ये वाला ऊपर लिखना चाहिए था गुहा सम परमात्मा ब्रह्मांड रूपी गुहा में रहता वैसे अक्षर हमारी विद्या जिसका विनाश नहीं थे वित्पत्ति लक्षण हुआ वित्पत्ति लक्षण शब्द का ये थोड़ा है शब्द का लक्षण शब्द यति प्रकाश यति ऐसा शब्द ये वित्पत्ति लक्षण होगा अच्छा हाँ। नीचे नीचेरंदाता नीचे नीचे नीचे नीचेरंदाता समारस होते तो ये स्वरूप लक्षण है ना ये गलत है ये गलत है इसमें नंबर नहीं मिलेगा सब सबका अच्छा। लक्षण सीधे आकाश जैसा शब्द वाला जो है ना प्रोतोपलब्धि बुद्धि ये स्वरूप लक्षण है उत्पत्ति लक्षण जगह शब्द है प्रकाश है यह सब शब्द और अच्छा। तटस्थ लक्षण हो जाएगा आकाश देशा यह सब शब्द अच्छा हो जाएगा आपने पूछा भी था ना इसके संबंध में हाँ पूछा था तभी गलत लिख दिया जी चलिए इसमें नहीं मिलेगा नंबर आगे क्या है यम के संबंध में क्या विचार है दयानंद जी यम किसको मानते सभी प्रकार एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि यम चार है इसके इसमें कोई मतभेद नहीं भट्टो जी के अनुयायी यम मानते हैं वर्ग के पंचम वर्ण में कोई भी अंत में हो और उसके पहले के चार वर्णों में से कोई भी वर्ण हो और उसका द्वित्व हो पहले के में पंचम वर्ण ठीक है द्वित्व का तो पहले न कौको के कुछ अनुसार तो यम भी सोना चाहिए पर मानते चार अनेक विद्वान कहते हैं कि कुमकुम तो में चार है तो यम क्यों नहीं और कहते हैं कि क्यों ये इतनी इतना भी नहीं जानते कि हाँ, बहुत सुंदर अं, तो कहते कि अनुसार तो स्वच्छ ही है कुछ मजान जी का खंडन करते हुए कहते हैं कि अनुस्वार तो का हम्म। ही फिर अनुनासिक अनुस्वार नहीं अनुनासिक होगा यह स्वतंत्र कैसा हुआ तो कहते हैं ये चिन्ह है और किसी इसी चिन्ह के कारण स्वर के दो भेद हो जाते हैं हाँ अच्छा बुंग दिया प्लक ने भी कर दिया ये भी कितने नंबर का आया नंबर का आचार्य हाँ जी दस नंबर का अच्छा दस नंबर का है ये आपने ठीक लिखा अनुस्वार को करेक्शन करके अनुनासिक कर देंगे समझ गए जी जी नौ नंबर ले लीजिए इसमें वर्ण कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं तीन प्रकार के वर्ण हैं पाईश्वर है हो गया उसमें कंप्यूटर में वो चिन्ह नहीं बना पाया ह्रस्व गुम दीर्घ गुम का और अनुनासिक का तो मैंने वही लिख दिया ह्रस्व दीर्घ दोबारा लिख दिया आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस ठीक है व्यंजन ऐसे मैं चाह रहा था कि ऐसे हो अयोग वाह विसर्जनीय जिहवा मूल्य पदमानी अनुस्वर ठीक है ये कितने नंबर का है पाँच पांच नंबर का आचार्य जी पूरा पांच नंबर ले लीजिए स्वर के कितने भेद हैं सब प्रमाण व्याख्या करें उच्चारण काल के आधार पर तीन भेद राजदेव गुण के आधार पर सात भेद एक सौ ठीक है और ये भी होना चाहिए लघु और लघु और हस्तम लघु संयोग गुरु तो लघु और लघु तो जो है गुण ही है ना वो स्वर के जी हाँ तो वो कितने का है दस, दस नंबर का दस नंबर का है चलिए वो आपने दो नहीं लिखा आठ नंबर ले लीजिए इस ग्रंथ में कितने प्रकरण है इस ग्रंथ में आठ प्रकरण है स्थान करण प्रयत्न दो प्रकार का अभ्यंतर बाह्य प्रयत्न अनिल स्थान वृत्ति कार वर्णों के हाँ, प्रकरण वर्णों के क्रम नावित कहाँ से होता तो ये कितने नंबर का है ये पांच पांच नंबर का है बहुत अच्छा किया परंतु ये है कि इसमें आपने श्लोक नहीं लिखा जी फिर चार नंबर ले लीजिए स्वर्ण उच्चारण में क्या दोष है ग्रस्त से मुक्त किसी वस्तु पर बोलने जैसा बोलना बहुत सुंदर निरस्तम जैसे मुख से कोई वस्तु को पकड़ के फेंक देते हैं वैसे ही फेंक से कर बोला ठीक है जल्दी से करना जिसको हम दे से कहना चाहिए तो जल्दी से कहना धक्का देना ऐसा बोलना मानो जैसे धक्का देकर बोलना अम्बुक मानो जैसे मुख से जल भर के बोल रहे हैं ऐसा बोलना लोहार की धोखे हवा ठीक है कपा करके कुछ करके कुछ नहीं बोलना चाहिए विकम्पित कपा करके बोलना दंत से काटते हुए कुछ नहीं बोलना चाहिए जैसे हिरन को आ, हाँ, नहीं बोलना चाहिए जितने समय बोलना चाहिए उससे ज्यादा समय अब बहुत जल्दी जल्दी जल्दी बोल देना भी दोष है बिखेरना बिखर कर बोले ऐसा सुर कितने नंबर का है पाँच पांच नंबर का चलिए पांच नंबर ले लीजिए जी हो गया ना जी हो गया टोटल कितने हुए चार नौ सत्रह पाँच बाईस हाँ जी छत्तीस छत्तीस जोड़ रहा हूँ चाहते हाँ, जोड़िए छत्तीस और चार चालीस पचास पैंसठ और दस पचहत्तर वेरी नाइस बहुत सुंदर बहुत ही अच्छा है अब प्रतीक जी का है नंबर जोड़ते जाइएगा ओके जी पहला क्वेश्चन क्या था हेलो हाँ जी वेदों के छह अंगों में से वर्णोच्चारण कौन सा ग्रंथ है ग्रंथ मुख है वेदों का क्रम नहीं ये ये ठीक उत्तर नहीं दिए इसमें नहीं मिलेगा हम्म। सीधे मिलना चाहिए बस प्रथम पहला अंग है अथम मंगलाचरण है जो ग्रंथ के प्रारंभ में कहा जाता है हम्म। इसमें जो है मंगलाचरण जो ग्रंथ के प्रारंभ में कहा जाता है एक अर्थ लिया इन्होंने दो नंबर का है चलिए आधा नंबर दीजिए अक्षर समामना ज्ञात ने लिखा शब्द निवास आकाश में है हाँ, आकाश शब्द चलिए दो नंबर इसमें शब्द का निवास आकाश में दो नंबर स्वयं राजन स्वरा जो स्वयं प्रकाश तो ये दो नंबर अब तो आगे है दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन में इनको कितने नंबर मिल गए एक साथ जोड़ लीजिएगा अब दूसरा क्वेश्चन क्या है पहले में कितना मिला सर जी पहले में दो दो जैसे गांव में दो नंबर मिला घाव में दो नंबर मिला गांव में मिला ही नहीं ख में आधा नंबर मिला ओके हाँ फोर तो point five four point five कितना हुआ फोर पॉइंट फाइव आचार्य जी चार दशमलव पाँच चार दशमलव पाँच अच्छा ठीक है आगे महर्षि आगे का क्या है क्वेश्चन वर्णोच्चारण शिक्षा को क्यों प्रकाशित वर्णो क्यों प्रकाशित करना पड़ा जबकि अच्छा, महर्षि दयानंद को वर्णोच्चारण प्रकाशित कर, करना पड़ा क्योंकि जो ग्रंथ उस समय प्रचलित था जिसे लोग पाणिनिकृत समझते थे वह वास्तव में पाणिनिकृत नहीं था उस ग्रंथ के आरंभ में कहा गया है कि यह वर्ण शिक्षा पाणिनि के मतानुसार है इससे यह जान जा, जाना जाता है कि यह किसी और ने और ने लिखा है दूसरा कारण यह भी है कि भारत देश में विभिन्न प्रांतों में देवनागरी भाषा के वर्णोच्चारण में व्यवस्था आ गई थी उदाहरण ज्ञान को महाराष्ट्र और दबे प्रांतों में नाम से उच्चारण किया कर किया जा रहा था गुजरात में उसे ज्ञान से उच्चारण करते थे और पंचगढ़ प्रदेश में अलग अलग उच्चारण होता था जबकि उसका सही उच्चारण जो आ न अ करना है चाहिए उसी तरह कुछ प्रांतों में श को ख की तरह उच्चारण करते थे यह सब अव्यवस्था को ठीक करने के लिए के उद्देश्य से महर्षि जी ने वर्णचार शिक्षा को प्रकाशित किया ठीक है इन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया है इसमें इन्होंने यम इत्यादि का भी दे देते तो और अच्छा हो जाता आ, इनको लिखने का बहुत अच्छा क्रम था क्रम है कितना नंबर कितने नंबर का है ये दस नंबर का हाँ, आचार्य दस नंबर का आचार्य दस नंबर का है इनको नौ नंबर दीजिए आगे है अक्षर किसे कहते हैं तो अक्षरम नक्षरम विद्या दसरम वर्ण अक्षर हुआ है जिसका कभी नाश नहीं होता न अक्षरम अक्षरम अक्षर हुआ है जो सर्वत्र व्याप्त है ठीक है अक्षर का उद्देश्य क्यों करना चाहिए वर्ण जन्म वाग ब्रह्म चौपदेश तीन कारण अक्षर का उदय तदर्थम जो शब्द ब्रह्म है और वर्ण ज्ञान में वाणी का विषय है उसको जानने के लिए इष्ट जो वर्णों में अभिष्ट अर्थ है उसने लगभग स्वर पर ज्ञान मिलने के लिए कितने नंबर का है पंद्रह नंबर का पंद्रह नंबर का है इनको जो है आप दीजिए पंद्रह नंबर में इष्ट बुद्धिर्थम में ठीक लिखा थोड़ा सा ये था वैसे पूरा इन्होंने लिखा है इनको दीजिए साढ़े चौदह हाँ। साढ़े चौदह नंबर दीजिए ठीक हम्म। है वर्णों की उत्पत्ति आकाश वायु आगे का चौथा क्वेश्चन क्या है क्या है वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है तो आकाश वायु समुचरण वक्त सनातरे मानो वर्ण तो आगछति ऐसा शब्द जब आकाश में वायु के प्रभाव से नाभि से ऊपर उठता हुआ कंठ में सब नाद जब उत्पन्न होता है तब जब यह नाद विभिन्न अंगों में ठीक तरह से विभाजित हो सकता तब शब्द प्रकट होता है और आत्मा बुद्धि समय तीर्थन मन कायाग्निमाहंति सपेत मंदरम जब आत्मा और बुद्धि अर्थों को समेट कर बोलने की इच्छा से मन को जोड़ता है तब मन को धक्का देता है इससे शरीर में वायु प्रेरित होता है यह वायु जिससे स्वर प्रकट होता है बहुत सुंदर कितने नंबर का है ये पंद्रह नंबर का पंद्रह नंबर का है हालांकि इन्होंने ठीक लिखा है पूरा ठीक लिखा है इसमें बस आधा नंबर इनका मैं काटता हूँ ह्रस्व दीर्घ का वैसे नहीं काटते ना को किसी का नहीं काटा पंद्रह का पंद्रह दीजिए अच्छा, अच्छा। पंद्रह का पंद्रह हम्म। शब्द का लक्षण श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धि निग्राह्य प्रयोग नभिज्वलित आकाश जैसा शब्द शब्द का लक्षण है कि वो कान इंद्रिय से द्वारा उपलब्ध है बुद्धि से जिसका ग्रहण किया जाता है जो बोलने सूचन होता है आकाश निवास स्थान है उसको शब्द कहते हैं ठीक है तो शब्द कितने नंबर का है ये पांच नंबर का है अक्षर ज्ञान का नहीं लिखा क्या आचार्य हाँ? अक्षर ज्ञान से क्या लाभ होता है कितने नंबर है वो क्वेश्चन पांच नंबर क्वेश्चन है आचार्य जी वो पांच नंबर क्वेश्चन है हम्म, नंबर क्वेश्चन है पांच नंबर का नहीं पांचवा नंबर का क्वेश्चन है वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बाद का प्रश्न है अक्षर ज्ञान से क्या लाभ होता है तो नहीं अक्षर अच्छा, हाँ अक्षर ज्ञान का लाभ ओहो ठीक है ठीक है ये मैं नहीं देख पाया था अक्षर ज्ञान का लाभ क्या है तदक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुहाश्यम समय गुशंति विपरा सश्रेय साभ्युदयन चाहिए सम्यक प्रयुक्त पुरुषों में नक्ति है अक्षर ज्ञान से जो ब्रह्म स्वरूप परम पवित्र है उसकी सम्यक उपासना करने से श्रेयस सुख ज्ञान और अभ्युदय समझने को प्राप्त होता है क्या लाभ होता है हाँ ठीक है ठीक लिखा कितने नंबर का है दस नंबर आचार्य जी सब में इन्होंने प्रमाण दिया है उनकी व्याख्या भी की है अपनी भाषा में ठीक है कितने दस नंबर का जी अपने और अपने संबंधियों को प्राप्त होते हैं अभ्युदय श्रेयस मोक्षादय अभ्युदय दो लाभ होता ठीक है दस का दस नंबर दीजिए इनको जी शब्द का लक्षण भी इन्होंने किया है ये कितने नंबर का छठा पाँच नंबर का आचार्य जी पांच नंबर का है निवास दीजिए पांच नंबर दे दीजिए इनको वाह क्या बात है यम के संबंध में विचार कवर के पहले चार व्यंजन कख हाँ। कवर के पहले चार कख जो कुछ विद्वान यम मानते हैं जब वे क्रम से दो बार प्रकट हो तो पहले वाले को यम कहा जाता है दग्न दो तो। हम्म। महर्षियान के मतानुसार वर्णों को के गण के पिछले चार रस यम बताया है क्वेश्चन क्या था यम के संबंध में क्या क्वेश्चन क्या था ओ, यम के संबंध में क्या क्या क्या विचार है दयानंद जी यम किन्हें कहते हैं अच्छा ये पूरा इन्होंने नहीं लिखा है कितने नंबर का है दस नंबर इसमें इनको दीजिए सात नंबर दीजिए क्योंकि पूरा नहीं लिखा है वैसे ठीक लिखा है आ, आगे है स्वरों के कितने भेद हैं सो या वर्णों के कितने भेद तो वर्णों के कितने भेद हैं ये स्वर के भेद वर्ण कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से अच्छा सो है उच्चारण काल के अनुसार उकालो झसुत तीन रूप है रसदेव पुरुष रस का उच्चारण समय को नहीं आचार्य जी गलत पे आ गए आप आठवें नंबर क्वेश्चन है वर्ण कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं तो स्वर के भेद दे दिया है नौमा है शायद इसको ये और नाइन है आचार्य जी को हाँ तो उल्टा लिख दिया हुआ है हाँ? वर्ण के प्रकार अच्छा वर्ण के प्रकार ये उल्टा लिख दिए हैं नौवा जो है पहले लिख दिए आठवां बाद में वर्ण के प्रकार टोटल त्रिष्ठी है तेरह राष्ट्र दीर्घ प्लुत ये ठीक है बाईस इन्होंने किया व्यंजन क व्यंजन हो गया और अयोगवाद टोटल तिरसठ होते हैं तो क्या था वर्ण कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं ये है ना जी व्याख्या ये कितने कितने तरह कितने नंबर का है पांच नंबर पूरा पांच नंबर इनको दीजिए ये पूरा अच्छे तरीके से लिखे हैं हाँ। और नौवा नंबर जो था स्वरों के भेद है स्वरों के भेद तो स्वरों के भेद जो है उच्चारण काल के आधार पर उकालो झदीर तीन रूप ह्रस्व दीर्घ प्लुत और इसका एक मात्र के फालतू लिखने की जरूरत नहीं थी गुण के आधार पर सात वेद हैं उदात दाता अनुदात सोरे सोरे दाता एक श्रुते स्वरिते यो दाता स्वरिते य उदात्ता यो दाता नहीं होगा स्वरिते य उदात्ता क्योंकि संधि वहां नहीं होगी वहां पूर्वोत्तरा सिद्धम निषेध कर देगा अच्छा स्वरित या उदात्ता एक श्रुति इन्होंने भी तो लघु और गुरु नहीं लिखे है तो कितने दस आठ दिए आप मुझे आपने मुझे आठ दिए हैं तो ये कितने नंबर का दस का आचार्य स्वरिते यो उदात्ता लिखना चाहिए था यह उदात्ता यो उदात्ता इन्होंने लिख दिया आठ नंबर है आठ नंबर इनको दे दीजिए आठ नंबर नहीं क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा इन्होंने लिख दिया एक मात्रिक दो मात्रिक लिखने की जरूरत ही नहीं थी साढ़े सात नंबर दीजिए साढ़े सात जी टोटल कितना हो गया अभी हाँ, सबसे ज्यादा इन्होंने ले लिया नंबर अभी तो दो प्रश्न और बचे हैं ना हाँ? दो तो प्रश्न और, बचे हैं दो प्रश्न और है जी इस ग्रंथ में कितने प्रकरण है स्वरों के उच्चारण में क्या दोष है अच्छा इस ग्रंथ में कितने प्रकरण हैं जी इस ग्रंथ में सी प्रकरण है इन्होंने क्या लिखा आठ प्रकरण को सी अच्छा आठ है ओहो ओ इस तो हिंदी का आठ इन्होंने लिखा है स्पर्श करण अंतर प्रयास बाह्य प्रयास ना ना ये गलत है इसमें कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा दसवा में ग्यारहवा क्या है स्वरों के उच्चारण में क्या क्या दोष हैं रुक्षता विलंबित तो अमुक फेंकना लाभ इत्यादि कंपन सहित कुछ ए, बस कितने नंबर का है पांच नंबर का आचार्य आधा नंबर दे दीजिए क्योंकि जो है बस थोड़ा विलंबित इत्यादि क्या किया ही नहीं आधा नंबर हाँ, आधा दे दीजिए आधा मतलब टू पॉइंट फाइव की पॉइंट फाइव वन पॉइंट आधा मतलब ये हुआ कि एक बट्टा दो एक ना वही मैं पूछा था पांच का आधा देना है कि एक मतलब का पांच का आधा नहीं देना जी जी ठीक है केवल एक नंबर का आधा जी हाँ। कितने हो तो गए तो एटी एट हो गए इनके एटी एट हो गए ये तो आगे का गलत इन्होंने लिख दिया चलिए ठीक है आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया आपका कितना सेवेंटी फाइव है ना जी मेरा सेवेंटी फाइव इनका एटी एट आपका जी पचपन की छप्पन मेरा छप्पन पॉइंट टू फाइव आचार्य जी छप्पन पॉइंट एट और राज भल्ला जी का उनका छप्पन पॉइंट फाइव था आचार्य जी अच्छा आपसे ज्यादा था कि हाँ पॉइंट टू फाइव ज्यादा था आचार्य जी अच्छा अच्छा अच्छा तो और उनका कितना था वासुदेवन जी का उनका था 37.5 लेकिन उसके उनके बिगिनिंग के दो क्वेश्चन या कुछ उन्होंने नंबर नहीं लिखे थे चलिए कोई बात नहीं आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया और इससे मुझे ये लगा कि जो है कि भाई हमने परिश्रम किया है नंबर कम आया ज्यादा या नहीं आया मतलब ये है कि एक तो सबसे पहले पहली बार आपने टेस्ट दिया है ना हम हम मतलब हम कैसे किस तरीके से पूछते हैं किस तरीके का है तो हम्म, आगे ठीक रहेगा आप जो आचार्य जी है इससे पहले कि खत्म करें आ, या, आ, आनंद कितना जोड़ा आपने प्रतीक का eighty eight eighty eight four G. I am I am coming out with different number basically nine four thirteen thirteen fourteen is 27 27 plus 15 is 42 52 57 57 and 7 is uh, 64 64 5 uh, 69 7 76 77, 78. I'm coming with 78, buddy. Oh, so फिर मैंने एक और कहीं जोड़ दिया होगा मैं एक्सेल में टाइप कर रहा था You want me to तो uh, tell the number 4.5 is the first one, 9.0 is the तो- second one. <laughs> अब तो मैंने एक्सेल क्लोज कर दिया 88 बता के तो राइट काउंट इज 78 तो ऐसा है अच्छा, कि 78 है तो आप फिर जो तो सुनेंगे तो देख लीजिएगा उसमें आप हाँ आ, हाँ, तो प्रतीक सुनेगा तो उनको पता चल जाएगा ना कि कितने हाँ, नंबर में उनको पता चल जाएगा फिर पूछ लेंगे अच्छा अभी बच्ची अभी सोई ये आनंद जी की बच्ची है चलिए धन्यवाद आचार्य जी हाँ हाँ हाँ ठीक है धन्यवाद जी अब मंत्र पाठ करें जी अच्छा जी ओम पूर्णमदः पूर्ण पूर्णात् पूर्णमुदच्यते भो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति सभी को धन्यवाद आपने टेस्ट दिया अच्छा हुआ और ऐसे ही मन में एक जगह के आगे जो भी पढ़ेंगे पूरे सतर्कता के साथ पूरे ध्यान के साथ जो है पढ़ना है क्योंकि हम आगे अब जैसे अब पहला प्रकरण स्थान प्रकरण जब समाप्त हो जाएगा तो हम स्थान प्रकरण की परीक्षा लेंगे ओके जी, जी। हर एक प्रकरण की हम परीक्षा लेंगे और फिर जब हर एक प्रकरण हो जाएगा तो जैसे हरे मतलब पहला प्रकरण हो गया तो उसकी परीक्षा फिर दूसरा प्रकरण दूसरे की परीक्षा तीसरा प्रकरण तीसरे की परीक्षा चौथा प्रकरण चौथे की परीक्षा इसके बाद आधा जब हो जाएगा तो आपको वन टू फोर का पूरा एक साथ देना पड़ेगा समझ गए हाँ, हाँ। जी इस तरीके से करूंगा जिससे कि आपका और पक्का हो जाए हाँ, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है नहीं आचार्य जी तो रखें जी बहुत नमस्कार आचार्य जी ठीक ठीक है